और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह जानते हो जो सनीचर सप्त के मामले में हद से गुजर गए थे चुनाचे हमने उनसे कहा था कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ